कोई लापर वो नहीं है दिमाग में कि मैं ऐसा करूं जितने आप पढ़ते हैं लगभग एक आध को छोड़ो वो सारे के सारे अपनी जहां स्वतंत्रता मिलती है आजादी मिलती है वहां जाते हैं न ही तो ऋण उतारने की बात है और न ही निष्काम भावना से इस विद्या की रक्षा की बात है उसके दिमाग दोनों ही नहीं जबकि अंधविश्वासियों के मन में पूरी बात बैठी है हम ऐसा करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे और वो जो चाहते हैं वो करते हैं और करवाते हैं अंधविश्वासी उनका जीवन ऐसा है अंधविश्वासी ऐसा करते करोड़ों तुम ऐसा करो स्वर्ग में जाओगे ईश्वर का दर्शन हो जाएगा और वो पूरा जीवन खपा देते पूरा जीवन तन मन धन पर अपने यहां बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग वो समर्पण समर्पित भाव से इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं है संगठित होके करने के लिए तैयार नहीं है विश्व स्तर पे आप रहते हैं बौद्धिक स्तर पर वैचारिक स्तर पर याद रखना वो स्तर योग विद्या को समझने का नहीं है अब तो जस्सू भाई भी नहीं समझ पाए होंगे इस बात को तो <laughs> मुझे पता चल जाता है ना भाई व्यक्ति कितनी गहराई में जाता है नहीं समझे हाँ संदीप जी कम समझ में आया होगा कितना आया है किसी ने ध्यान नहीं दिया किसी ने जोर लगाया तब भी समझ में नहीं आया हाँ जी जिस बौद्धिक वैचारिक स्तर पर हम लोग रह रहे हैं हाँ उस स्तर से ऊंचे योग की अपेक्षा नहीं की जा सकती ऊंचा योग नहीं समझा जा सकता ऊंचे योग को जीवन में नहीं लाया जा सकता आपको ये पता नहीं रहता होगा आप देखो भाषा कैसे बोलनी चाहिए योग सीखने वाले को ये आपको कोई पता नहीं आप योग सीखने वाले की भाषा नहीं जानते नहीं बोलते तो योगी नहीं बन पाएंगे ये, साधारण बातें इन साधारण बातों को लेंगे आप जैसे कि मैं एक बात बताता आप कभी कभी हंस लेते हैं और उस हंसते हुए ऐसी भाषा बोल देते हैं देखो ये तो हाथी की तरह खा जाता है और तो उसने हंस लिया थोड़ा सा लोक में तो इसको बुरा नहीं मानता ना कोई या नहीं देखो जी ये तो इतना खाता है हाथी की तरह खा जाता है इतना लंबा चौड़ा खाता है जैसे हाथी खाता है नहीं समझे आप और थोड़ा सा वो हंस भी लिया तो लोक में तो इसको बुरा मान नहीं सकते ना आपस में एक दूसरा व्यक्ति मखौल करता है हंस लेता है नहीं होता क्या लोक में भाई भाई भी बोलते हैं ना ये तो भाई ये तो हाथी की तरह खाता रहता है पड़ा रहता है वो हंसते हैं व्यंग्यात्मक भाषा भी बोलते हैं या नहीं होता है आप भी बोलते होंगे कभी कभी तो बोलते होंगे या नहीं है हाँ जी या ध्यान ही नहीं आपको है और जब बोल लेते हैं तो याद रखना विवेक वैराग्य की प्राप्ति हो समाधि हो यह संभव नहीं है बात साधारण सी है इसको कौन बुरा मानता है भाई भाई को कहता है हाथी की तरह खाता है पड़ा रहता है <laughs> वो हंस लेता उसको इतना ही तो कहता है इसको थोड़े इसको बुरा थोड़ा ही मानते हैं संकेत है ऐसी भाषा बोलना व्यंग्यात्मक भाषा बोलना भाषा बोल के हंसना और हंसाना ये लोक में स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता स्वास्थ्य के लिए अच्छा है चिंता मत करो और वही हंसते रहो हंसाते रहो ये ठीक है पर इसको यही पता नहीं ये भाषा ये हंसना हंसाना योग में कितना बाधक है इसको ये पता नहीं है इसको पता ही नहीं तो वो ये योग में प्रवेश कैसे करेगा ये बाधक कैसे है वो जानता नहीं अध कचरी बात कई बार लोग कहते हैं भोजन खाओ और स्वाद लेके खाओ नहीं तो पचेगा नहीं अच्छा भाई लौकिकों के लिए ठीक है चिंता में मत पड़ो शोक सागर में मत डूबो प्रसन्नचित होके खाओ लौकिकों के लिए ठीक है और नहीं तो वो चिंता में पड़ेंगे शोक में पड़ेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होगा ये तो ठीक है पर योगाभ्यासी विवेक वैराग्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ये माने के मैं तो स्वाद लेके खाऊंगा तो वो योगी कभी नहीं बन पाएगा उसको यही पता नहीं ये बाधा डालता भाई शरीर को पानी पीना है हवा लेनी है शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए ऐसे भोजन खाओ शरीर में बल बढ़ेगा बुद्धि बढ़ेगी स्वाद नहीं लेते हम उसका प्रसन्न चित्र रहते ही हम कोई शोक साधन में नहीं डूब रहे हम इसे नहीं ऐसा करो अब इसको यही पता नहीं ये योग में कैसे बाधा डालता है सिखाता है भाई ऐसे खाया करो मैंने कहा ये बिना जानने वाले की बातें सारी तो जानते ही नहीं वो ऐसी बातें करते हैं सामान्य स्तर पर व्यक्ति ऐसे रहता है लौकिक स्तर पर ऐसे रहता है साधारण व्यक्ति ऐसा रहता है उसका मन लगा रहता है रुचिकर लगता है उसके लिए ठीक है वो ऊंची योग की बात करो विवेक वैराग्य की बात करो समाधि की बात करो यहां वो लागू नहीं होता होगा ही यदि वहां लागू किया जाता है तो विवेक वैराग्य समाधि प्राप्त नहीं कर सकेगा लाख जन्म में भी इतनी गंभीर अवस्था लानी पड़ती किसी भी प्रकार की लहर सुख की यदि पकड़ता है व्यक्ति वहीं विवेक वैराग्य विदा हो जाता है किसी भी ढंग किसी भी प्रकार से स्वस्वामी संबंध को पकड़ता है व्यक्ति तो लोग योग विदा हो जाएगा नहीं ठहरेगा योग किसी भी अवसर पर सकाम कर्म और फल की दृष्टि से किया हुआ कर्म लौकिक दृष्टि से यदि जगह लेता है तो योग विदा हो जाएगा नहीं रुकेगा वहां की और ध्यान दो मन को अच्छी तरह एकाग्र कर दो आप देखेंगे लोक में संसार में प्रत्येक व्यक्ति या तो ईश्वर प्राप्ति की बात को स्वीकार करता है इसको श्रेय मार्ग बोलते उपनिषदों में या भोग मार्ग को अपनाता है इसको प्रेम मार्ग बोलते हैं आप यदि श्रेय मार्ग की ओर नहीं चलेंगे तो प्रेम मार्ग की ओर आपको चलना ही पड़ेगा वेद मुनि जी क्या समझे प्रेम आपकी तरफ नहीं चलेंगे तो प्रेम आपकी ओर जाना ही पड़ेगा बीच में खड़े नहीं रह सकते आप कोई भी नहीं रह सकता कारण जीवात्मा विविध दुखों को भोगता है क्या समझ में आया जीवात्मा विविध दुखों को भोगता है और उन दुखों को दूर करना चाहता है यहां है स्वाभाविक है या नहीं है दोहरा लो प्रत्येक व्यक्ति दुखों को भोगता है दिन रात कहीं आध्यात्मिक कभी आदि भौतिक कभी आदि दैविक तीनों दुखों में से कोई न कोई चक्कर उसके ऊपर पड़ा रहता है अपने कारण से दुखी प्राणियों के कारण से दुखी पृथ्वी जलवायु के आकाश बिजली पानी आदि इनके कारण से दुखी कोई न कोई दुख उसको पीसता रहता है अब वो उस दुख से पिसता हुआ उसे छूटने का प्रयास तो करेगा इससे कौन बच सकता है क्यों दसो भाई समझे ये स्वाभाविक है या नहीं है, है जी है स्वाभाविक इस दुख को छूट हटाने के लिए इसे छूटने के लिए या तो वो लौकिक प्रयास करके चाहेगा मैं छूटू या फिर ईश्वर प्राप्ति से मैं इसके छूट जाऊं वो ऐसे बीच में कैसे खड़ा रहेगा नहीं रह सकता या नहीं देखिए आपको ये बात नहीं देखिए तो सर फिर सुन लो आ गई समझ में नहीं रह सकता स्वभाव तो दुखी होगा दुखी होगा तो दुख को हटाने के लिए उपाय तो ढूंढेगा कुछ ऐसे आठ को थोड़ा ही बैठा रहेगा चाहे कम अधिक ये अलग बात है तो उन दुखों को हटाने की प्रक्रिया दो प्रकार लौकिक सुखों को प्राप्त करो और बाधकों को हटाते जाओ एक स्थिति एक ईश्वर को प्राप्त करो और बाधकों को हटाते जाओ जिस समय वो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा और ईश्वर प्राप्ति के साधनों को नहीं जुटाएगा तो ईश्वर से प्राप्त होने वाला सुख उसको नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो उसको दुखों को हटाना है और सुख को भी प्राप्त करना है तो दूसरी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई लौकिक सुखों को प्राप्त करना चाहेगा वो और दुख से छूटना चाहेगा अब आप इस ओर चलिए संसार में आप देख सकते हैं बड़े बड़े शक्तिशाली देश संपन्न देश यहां तक सुनते वो इस सारे भूगोल के को अनेक बार समाप्त कर सकता ऐसा हम सुनते हैं क्या समझे आप इतने अस्त्र शस्त्र उसने तैयार कर लिए हैं उनका युद्ध के रूप में प्रयोग किया जाए लोगों को मारने के लिए तो अनेक बार पूरी सृष्टि के लोगों को खत्म कर सकता हूं इतनी शक्ति है इतना धन है इतनी संपत्ति है इतनी भूमि है पर याद रखना वो एक मिनट भी चैन से आज सो नहीं पा रहा है एक सेकंड भी उसको क्लेश रहित अवस्था प्राप्त नहीं है या है नहीं है बिल्कुल प्रेम मार्ग से वो शांति को प्राप्त करना चाहता है और उसमें भी अनुचित उपायों के माध्यम से दिन रात उसके भोग विलास में बाधा पड़ गई पहले इसको जचती नहीं थी ये बात कि हमारे भोग विलास में कोई बाधा डालेगा आतंकवादियों ने ऐसी मार मारी आज उनकी सारी भोग विलास की जो चैन थी वो थी ये थी वो आवाज से हो गया उनको ये पता लग गया एक मिनट का पता नहीं क्या हो जाएगा ये कहा भोग विलास में पड़े हैं हम आपके दिमाग में किसी के में बैठ गई हो कि हम इस मार्ग को छोड़ देंगे और उस मार्ग से हम सुखी हो जाएंगे इसको दिमाग से निकाल दो और अपनी बुद्धि ऊपर रखनी हो तो रख के चले जाओ उस मार्ग पर ढूंढ लो सुख को ढूंढो दुख से बच जाओ यदि आपकी इतनी बुद्धि काम करती है तो करके देख लो फिर से सुन लो आपके मन में ये बात बैठ गई हो या हो कि दूसरे मार्ग से भी हमको सुख मिल सकता है और दुख हट सकता है तो इस मान्यता को दिमाग से निकाल दो आज की जो स्थिति है करोड़पति बन जाओ अरबपति बन जाओ भूगोल के राजा भी क्यों नहीं बन जाओ कुछ भी बन जाओ आप दुखों से छूट जाओगे और सुख मिलने लगेगा ये आशा छोड़ दो उसे तृप्ति हो जाए नहीं ध्यान दो प्रकार की विवाह करो धर्म के माध्यम से उचित न्याय के माध्यम से जब व्यक्ति राजा हो धनवान हो वह ईश्वर के साथ ईश्वर को साथ जोड़ के चलता है धर्म को साथ लेके चलता है न्याय को साथ लेके चलता है धन उपार्जन करता है तो धर्म से करता है संध्या उपासना करता है स्वाध्याय करता है उस स्तर पर उसका दुख कम होता चला जाता है और सुख बढ़ता चला जाता है लौकिक क्या समझ में आया क्या आया समझ में जब व्यक्ति राज्य प्राप्त करके धर्म को नहीं छोड़ता ईश्वर को नहीं छोड़ता तथा धन प्राप्त करने वाला धन को प्राप्त करके ईश्वरोपासना नहीं छोड़ता और स्वाध्याय आदि करता रहता है तो उसका लौकिक सुख बढ़ता जाता बढ़ता जाता है और दुख कम होता जाता है और ईश्वर को धर्म को इनको छोड़ के जो धन संपत्ति कमाता है उसका लौकिक दुख बढ़ता जाता है और सुख कम होता चला जाता है अब अंतर कर ले लौकिक सुख कम होता चला जाता है और दुख है बढ़ता चला जाता है आज के विश्व की स्थिति है आपको ये बात मन में पचती है या नहीं पचती बैठती है या नहीं बैठती आप जानो क्यों साधक जी ये जितना शिकाया पढ़ाया जाता है हम तो यही देखते हैं इनमें से आंशिक रूप में पकड़ रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते हैं गुजारा कर रहे हैं अपना यदि ऊंचे स्तर पर ये करें तो सफलता हो ही जाएगी मिलेगी और अब तो आंशिक रूप में ये परिश्रम करते हैं आंशिक रूप में इनको सफलता भी मिलती है पर इतने परिश्रम से ऊंचे स्तर की सफलता नहीं मिलती कभी अब एक बात और व्यक्ति को अपने जीवन में अपने जीवन को देखते हुए समाज को राष्ट्र को भी देखना पड़ता आज हम जितना पढ़ते पढ़ाते हैं जितनी सुविधा साधन हमको मिलते हैं और हम इस देश में उत्पन्न हुए इसी का खाते पीते हैं इसी की संपत्ति के हम स्वामी बनते हैं उसका उपयोग करते हैं और समाज बिगड़ रहा हो राष्ट्र बिगड़ रहा हो उसके ऊपर आक्रमण हो रहे हो बाहर भीतर से और हम अपना शांति से बैठे रहे हैं यद्यपि इसका संबंध योग से भी है ये हमारा धर्म नहीं हम ऐसा मान के चले तो ये भयंकर भूल करेंगे एक पृथक बात यह है एक व्यक्ति ने अपनी योग्यता बहुत अच्छी बना ली है ऊंचा स्तर बना लिया वो समाज राष्ट्र के लिए अधिक समय देता है अधिक उपकार करता है अपना जीवन उसका बहुत कुछ बन चुका है जो अभी बन ही रहा है बना रहा है वो भी राष्ट्र को सहयोग देता है अपने को भी बनाता है जो बन चुका है कुछ वो अधिक राष्ट्र का उपकार करता है और जो अभी बन रहा है वो उसकी अपेक्षा कम करता है यदि इसको ध्यान में नहीं लिया जाए तो आज छोटे छोटे बालक और थोड़े से बड़े और जवान जितने भी सभी देशों की ओर देखो आप उनको इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि संसार के ऊपर अधिकार करो संपत्ति को अधिकार में लाओ और सबको अपना गुलाम बना के रखो सबको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये जितने भी हैं ये सभी की योजना यही है सबके ऊपर अधिकार करो दूसरे देशों को लूटो दूसरे देशों की संपत्ति पर अधिकार करो उनको गुलाम बनाओ या मार डालो और इस भारत के लोग बहुत कम इस पर ध्यान देते होंगे बहुत कम युवा पीढ़ी इस पर ध्यान देती होगी बहुत कम लोगों को सिखाया जाता होगा घरों में माता पिता अपने बेटा बेटी को कोई प्रशिक्षण नहीं देते एक आध को छोड़ो कि देश के लिए ये करो समाज के लिए ये करो देश को बचाओ वैदिक संस्कृति को बचाओ बस मजे में रहते हैं और टेलीविजन के नाच गाने बारह बजे तक देखते रहते ये भारतीयों की स्थिति है ऊपर से लेके नीचे तक आप देखेंगे कि जितने अधिकारी लोग हैं ऊपर के राजनीति वाले हों और दूसरे संपत्तिशाली हों धार्मिक नेता के रूप हों एक आध को हटा दो बीच से शेष केवल उनको धन चाहिए मान चाहिए गद्दी चाहिए अधिकार चाहिए भारत कहीं चला जाए ये भारतीयों की स्थिति है यदि हम भी उन्हीं की बातें सोचने लग जाए उन जैसा तो फिर तो भारत को बचाया नहीं जा सकता वैदिक संस्कृति को बचाया नहीं जा सकता धन संपत्ति को नहीं बचाया जा सकता भूमि को नहीं बचाया जा सकता इसलिए इसको हम निष्काम कर्म बोलते हैं निष्काम भावना से हम देश समाज आगे हमारा दिमाग जाता है पूरे विश्व को हम सुखी करना चाहते हैं वैदिक परंपरा है हम ऐसा नहीं मानते कि हमारी बात ही मानी जाए औरों की न मानी जाए हमारा ही राज्य हो औरों का न हो इत्यादि शंका उभरती है कि आप कहते भारतीयों का राज्य हो आप कहते भारतीयों की बात क्यों अपने देश की उन्नति अपने देश का राज्य अपने देश का ऊंचा उठाना वो भी तो चाहते हैं हम भी चाहते हैं मैंने कहा इसमें अंतर है दूसरे देश वाले दूसरे मत वाले अवैधिक रीति से अपने देश को उठाना चाहते हैं और उनको दबाना चाहते हैं उसको यदि हम स्वीकार करते हैं और वो भी तो हम दुख में डूबेंगे और वो भी डूबेंगे उनकी बातों को मान लिया जाए वो जैसा करना चाहते हैं विदेशी लोग उनके मान्यताओं को स्वीकार कर लिया जाए उनकी बातें को मान लिया जाए तो परिणाम ये निकलेगा वो भी दुखी हम भी दुखी परिणाम दुख निकलेगा हम वैदिक परंपरा को लाना चाहते हैं उसमें हमारे लिए और उनके लिए सुख परिणाम निकलेगा ये भाव है न कि हमारी ही बात सत्य है बराबर होते हुए उन जैसी ऐसा नहीं कुछ कम समझ में आया ऐसे कहते हैं लोग आप अपनी बात कहते हैं अपना राज्य लाना चाहते हैं अपनी मान्यताएं चलाना चाहते वो अपनी मान्यता फर्क क्या है हमने फर्क ये है अंतर ये है दोनों उनकी मान्यता मानने पर उनकी राजनीति मानने पर उनके मंतव्य मानने से हम भी दुखी वो भी दुखी सब बिगड़ेंगे इसलिए हम उनकी मान्यताओं को हटाना चाहते हैं न कि हमको ये पक्षपात है कि हमारी मान्यता ही ठीक है और उनकी गलत ये कोई पक्षपात बुद्धि नहीं है हमारे पास निष्पक्ष भाव से चलते आगे बात समझ में अब याद रखिए आपने विविध प्रकार से सुना है एक अपने को बनाते हुए अपना निर्माण करते हुए व्यक्ति को एक भाषा विज्ञान है पढ़ाने का है लेखन का है और उपदेश का है उपदेश के विषय में आप नहीं समझते उपदेश कैसे देना चाहिए उपदेश में किस प्रकार से बोला जाए क्या क्या शैली हो भाषा क्या हो शब्दावली क्या हो यदि आप नहीं सीखते तो आप अधकचरे रह जाओगे समाज को विशेष लाभ नहीं दे पाएंगे आप समाज के लिए हम लेखन कार्य करते हैं साहित्य का प्रकाशन करते हैं विद्वान तैयार करते हैं पढ़ाई के माध्यम से अध्यात्म परंतु उपदेश के माध्यम से जो समाज का उपकार किया जाता है समाज को संगठित किया जाता है समाज को मार्ग दिखाया जाता है वो दूसरे साधनों से उतना नहीं हो पाता साधन सभी है अपने आप अर्थात एक भाग है बहुत बड़ा ये आपको बहुत अच्छा ठीक बोलना आता है सिद्धांत के अनुरूप बोलते हैं परंतु बोलने वाला व्यक्ति अपना आचरण को सुधारने का पूरा प्रयत्न करता है इसको साथ जोड़े रखिए आचरण को वैसा बनाइए जैसा बोलते हैं प्रयत्न करते जाइए और फिर ढंग से बोलिए आप बहुत बड़ा संगठन बना सकते हैं हजारों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं हजारों लोगों को उल्टे मार्ग से हटा के इस मार्ग पर जा सकते हैं यदि आप ध्यान नहीं देते प्रवचन सुनते हो ध्यान नहीं देते उसको याद नहीं करते लेखबद्ध नहीं करते तो आप बेसमझ व्यक्ति भय बोलने वाला किन शब्दों को बोलता है किस वाक्य को बोलता है किस ढंग से बोलता है वो सारी बातें वो पकड़ता जाता है और चित्र खींचता जाता है बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे के प्रवचन सुन सुन करके उनको लेखबद्ध करके बीस तीस प्रवचन लेखबद्ध कर लेते हैं और जब बोलना होता है तो उनको देख लेते हैं तैयारी करते हैं फिर बहुत अच्छा बोलते हैं आलसी व्यक्ति ना ध्यान से सुनता है लेख लेखपत करता है और कोई बोलने के लिए कहे तो भागता है डरता है न बोला जाए तो अच्छा है ऐसी गति आपकी होती होगी कभी कभी या नहीं होती हाँ जी रणवीर जी क्या क्यों जी डर लगता है नहीं खड़ा होते हो है कुछ होता है पर कुछ छोड़ भाग जाऊं या मैं करूँ नहीं ऐसा नहीं होगा हाँ जी बोलो मुझे भय नहीं होता आप अपना बोलो जी थोड़ा है अच्छा लगना ठीक है वो अब एक बात जो शंकाएं रह गई हो या आपने सुना हो उसमें कुछ न समझ में आया हो तो आप आज जैसे या फिर कल आगे कार्यक्रम परिवर्तित हो जाएगा और हमारी यहां से चलने की योजना प्रातः काल चौबीस को होगी ना या क्या चौबीस को है ना हम्म? हाँ, चौबीस को है और बाईस को गांधी नगर में हरे समाज में प्रवचन होता फिर बुढ़ाशा में ठीक है ये बाईस का कार्यक्रम इतने काल में कोई शंकाएं रह गई हो पूछनी हो वो आप पूछ सकते हैं सभी बातों को ध्यान से देखो एक आपको बताया गया था देखो अपने तो दोषों को देखने में जोर दो अपने दोषों को ढूंढो बहुत अधिक जोर और दूसरे के गुणों को देखने में जोर दो इस शैली से व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाता है और जब दूसरे के दोषों को देखने में निपुण होता है अधिक बल देता है अपने दोष देखने में कम ध्यान देता वो बिगड़ता है जो व्यक्ति ऊंचा लक्ष्य बनाता है ईश्वर प्राप्ति करने कराने का याद रखना उस व्यक्ति को ये छोटी छोटी बातें कुछ नहीं कहती दिखाई ही नहीं देती मुझे कौन बड़ा कहता है कौन छोटा कहता है कौन मेरी निंदा करता है कौन स्तुति करता है मेरे ऊपर आरोप लगाता है ये करता है ये बातें उसको सुनने की ना रुचि होती ना ये बातें उसको दुख देती और ना उसका अवकाश मिलता इनको सुनने नहीं मिलता स्वाभाविक बात है एक वृत्तांत सुनते हैं हम वो कितना साक्षात्कार का है या किसी ने लेखबद्ध किया है अथवा स्वामी दान सरस्वती ने वो बात सीधी कही है इसको हमें किस रूप में माने अलग विषय है सुनी हुई बात सुनाता हूं तो स्वामी दान सरस्वती से एक बात पूछी गई कि आप इस रूप में रहते हैं आपको कभी काम वासना ही नहीं सताती क्या भोगो की वासना नहीं सताती क्या ये हमने सुना है तो बताया गया कि स्वामी दान जी कहने लगे मुझे काम वासना को सोचने का समय ही नहीं मिलता क्या समझ में आया मुझे मेरे पास में तो समय ही नहीं है कि काम वासना कैसे सोची जाए क्या किया जाए मेरे पास समय ही नहीं है उसे काम वासना के लिए सोचने के लिए उसकी इच्छा को पैदा करने के लिए लक्ष्य को सामने रखता है उसके लिए ये सारे काम क्रोध तो लोभ मोह ये आके आक्रमण नहीं करते ना रुखाड़ डालते जो बैठा है वैसा ही आसपास धरे काम अपना नहीं दूसरे का नहीं उसको ये सताते इसे एक बहुत बड़ा विज्ञान निकला अच्छे काम के लिए पूरा जोर लगा दो तो बुरे काम स्वतः ही नहीं आएंगे अपने उत्थान के लिए लगे रहो मित्रों साथियों के स्थान के लिए उत्थान के लिए पड़ोसियों के उत्थान के लिए लगे रहो आप बुरे काम करने का आपको अवकाश ही नहीं मिलेगा अपने लिए कम परिश्रम करोगे और मित्रों के लिए कम परिश्रम करोगे पड़ोसियों के कम करोगे तो बुरे काम करने के लिए बहुत अवकाश मिलेगा आपको या नहीं ऐसा स्वभाव से सिद्ध है अब सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं कल के सत्संग में अनेक बात सुनी आपने एक बात ये सुनी थी कि जो व्यक्ति सांसारिक व्यक्तियों की भांति बातचीत करता है खाता पीता है लेता देता है उन्हीं की भांति वो सोचता विचारता है वह व्यक्ति योग में प्रवेश नहीं कर सकता जब इन बातों को व्यक्ति नहीं देखता नहीं जानता और लौकिक व्यक्तियों की भांति वो सोचता है फिर वो बातचीत भी वैसे ही करता है लेन देन का व्यवहार भी ऐसे ही करता है तो ऐसी गतिविधि वाला व्यक्ति योग में प्रवेश नहीं कर सकता मानसिक स्तर पर थोड़ा सा लेके देखो एक व्यक्ति ने सुना कि मेरे ऊपर कुछ झूठा आरोप लगा दिया है किसी व्यक्ति ने झूठी बात मेरे ऊपर मढ़ दी है कि अमुक व्यक्ति ने ये बात कही या ये कार्य किया उसने सुन ली किसी से भी सुनी कि अमुक व्यक्ति ने आपके विषय में ये कहा अब वो व्यक्ति सांसारिकों की भांति सोचता है क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने तो ये बात कही नहीं मैंने कार्य किया नहीं तो उसने मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाया और आगे बढ़ता है तो वो कहता है या मन में सोचता है कि मैं इसका बदला लूंगा मैं उस व्यक्ति को धमकाऊंगा मैं उस व्यक्ति के विषय में पता नहीं कितनी सोच सकता है ऐसा वो सोचना आरंभ कर दिया उसने कल्पना की ये ये मानता है मेरे ऊपर अन्याय मंड दिया गया है इसलिए मैंने ये ये ये ये काम कर दी ये सांसारिक व्यक्तियों में भी निम्न स्तर वाले का विचार है ये ऊंचे स्तर वाले का ये विचार नहीं है सांसारिक व्यक्ति व्यवहार कुशल व्यक्ति ऊंचे स्तर वाला इतने निम्न स्तर पर नहीं सोचता बुद्धिमान व्यक्ति कहता है देखो क्या कहा किसने कहा मैंने क्या भूल की इसका पता लगा लिया जाए पता लगा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि वो भूल कैसे हुई मुझे हो गई है क्या एक तो ये अंश आएगा उसके दिमाग सचमुच मुझसे भूल हो गई है क्या हो गई है तो मैं समझने का प्रयास करूंगा एक भाग और फिर वो पूछताछ अंतिम परिणाम निकलने पर उसको सुलझाएगा देखो मैंने इस कार्य को नहीं किया अमुक बात मैंने नहीं की तो आप यदि ऐसा मानते हैं तो मुझे समझाइए आप मैं आपकी बात मानूंगा प्रेम से कहता है कुछ भी तनाव नहीं है ये कुशल व्यवहार व्यक्ति की बात है सांसारिक व्यक्ति अकुशल की वही है जो मैंने पहले बताई पहले ही वो क्रोधित होता है पहले ही उत्तेजित होता है पहले ही बदला लेने की भावना करता है पता नहीं क्या सोचता है ये निम्न स्तर का व्यक्ति ऐसे सोचता और आध्यात्मिक व्यक्ति तो जो सांसारिक स्तर पर ऊंचे स्तर पर सोचता है उसे बहुत ऊंचा सोचता है उसे सोचने की सीमाएं बहुत ऊंची हो जाती है जैसे ऐसा उसने सुना आरोप लग गए हैं जूठा मेरे ऊपर दोष लगा दिया गया है या मेरे विषय में कहा है वो देखता है ये झूठा आरोप है वास्तव में तो क्या मैं दुखी होता हूं इससे मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा यदि मैं दुखी होता हूं तो मैं वास्तव में साधक व्यक्ति नहीं मैं योगाभ्यासी नहीं मैं सांसारिक व्यक्ति हूं जो मान अपमान के चक्कर में पड़ता है ये उसके सोचने का नहीं मैं देखता हूं आरोप झूठा है बात गलत है तो भी क्या मेरे ऊपर उसके प्रति द्वेष तो नहीं हुआ क्या मैं इससे खिन्न तो नहीं हो गया हूं क्या मुझे बुरा तो नहीं लगा है इतना ही नहीं मुझे अच्छा लगना चाहिए उसने आरोप जो लगाया है अच्छा नहीं लगता तो मैं अपनी तपस्या में पूरा नहीं हूं ये साधना करने वाला सोचता है आप सभी विचार करके देख लो कोई ब्रह्मचारी के ऊपर किसी दूसरे को भ्रम हो गया भ्रांति से कह दिया या जानबूझ के कह दिया कि अमुक ब्रह्मचारी यहां से ये चीज लेके खा गया और अध्यापकों को अधिकारियों को बताया वो ब्रह्मचारी खा गया वो तो कि बिना ही पूछे हाँ बिना ही पूछे खा के लेके खा गया तो ब्रह्मचारी जी ने सुन ली कि वो लड्डू रखे थे या फल रखा था और उसने कहा कहने वाला चाहे जानबूझ के भी कह सकता है और भ्रांति से भी कह सकता है तो उसके मन में भी यही स्थिति आएगी जो मैंने सुनाई आपको वो सोचने लगे देखो मैंने तो ये दोष किया ही नहीं अच्छा मैं देखता हूं क्या ऐसा मिथ्या आरोप लग गया और बात आ रही है मुझे दोषी सिद्ध किया जाएगा माना जाएगा तो क्या मुझे इससे दुख हुआ क्या मेरे मन में खिन्नता आई क्या मेरे मन में कलेश उत्पन्न हुआ क्या उस व्यक्ति के प्रति द्वेष उभरा वो देखता है द्वेष नहीं उभरा वो देखता है मुझे कुछ प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि ऐसा अपमान होने पर मन में प्रसन्नता है और ये ईश्वर की सहायता से सहन शक्ति बढ़ गई है और वो कुछ नहीं कहता ठीक है उसे कोई पूछता ही नहीं मान के चलो तो वो कुछ वो भी कुछ नहीं कहता एक व्यक्ति की सोचेगा कि ये बात ये चर्चा में आई और लोगों का आई तो लोग मुझे इस दृष्टि से देखेंगे इसने वो चीज दी ये आरोप लगा ये लड्डू खा गया बिना पूछे वहां चीज खा ली वो देखेगा सब मुझे देखेंगे इसने खाई है क्योंकि उसने सबके बीच में कहा कि ये खा गया अब इससे वो डरता है अपना अपमान समझता है इसे वो उसका निवारण करने की सोचता है कि इसको कहे अब ये जो स्थिति बनी है योगाभ्यासी की नहीं है अच्छा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है और ये प्रत्येक व्यक्ति का मनोविज्ञान है कि एक व्यक्ति की बात नहीं है प्रत्येक व्यक्ति सोचता है जहां ये आपको बताया जा रहा है कि योग में बाधक कैसे कैसे किस किस रूप में बाहर से बाधक का होना एक भाग है परंतु स्वयं बाधकों को उत्पन्न करना एक दूसरा विभाग है यदि ये कुछ ने कहे चुप रहे सहन करे इसकी तपस्या बढ़ेगी कोई बात ही नहीं एक स्थिति और ये वहां पर ये बाधक खड़े कर ले हुए कि मुझे मेरे ऊपर क्यों आरोप लगाया मेरे ऊपर ये आरोप मिथ्या क्यों लगाया ये ब्रह्मचारी ये खा गया है पी गया है और फिर वो क्रोधित हो जाए फिर वो शिकायत करने जाए ऊपर के आचार और फिर उस ब्रह्मचारी को कहे कि तुमने क्यों कहा ऐसा और तू तुम में आ पड़े ये व्यक्ति है जो व्यवहार को भी नहीं जानता वो व्यक्ति है ये बात इसलिए बताई जा रही है इतना पढ़ने पर भी इतना आप विद्वान होने पर भी इतने दर्शन उपनिषद पढ़ने पर भी इतना आपको क्रियात्मक योग सिखाने पर भी फिर भी यदि आपकी स्थिति है तो समझ लेना दुनिया में संसार में आपको कोई योग मार्ग पर नहीं पहुंचा सकता ऊंचे योग की स्थिति आप नहीं पकड़ सकते नहीं सीख सकते असंभव बात ये इसलिए जोर दिया जाता है आपको भ्रम हो गया हो भ्रांति हो गई हो व्यवहार हमारा ऐसे ही रहेगा हम समाधि में चले जाएंगे ये भ्रांति नहीं रहनी चाहिए विवेक वैराग्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति विवेक वैराग्य की स्थिति को उत्पन्न करने वाला व्यक्ति अपने हाथों से अपने आप को मार देता है जीवित रहते हुए मार देता है मैं और मेरा देवदत्त नाम और देवदत्त शरीरधारी इनको बोलते हैं नाम और रूप नाम रूप का विनाश कर देता है नाम जो था उसका देवदत्त वो समाप्त हुआ शरीरधारी ये जो शरीर था इसका नामी नाम है नाम को और रूप को समाप्त कर देता है और नाम और रूप अपना समाप्त कर दिया कहने वाले का समाप्त कर दिया अब कौन कहने वाला है और कौन सुनने वाला है ना सुनने वाला है ना कहने वाला है झगड़ा ही समाप्त इन माताओं को पता नहीं कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं हुँ? हम्म? आता है उपनिषदों में आपने पढ़ा भी होगा कुछ क्या भाव है ऐसा विद्वान नाम रूप को छोड़ करके वैसे ही ब्रह्म प्रवेश करता है जैसे नदियां नाले समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं पढ़ा तो होगा आपने भी या नहीं पढ़ा परात परम पुरुषम नामम नाम रूपम विहाय परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम पढ़ा होगा पंक्ति लगाई होगी हमारे एक अच्छे विद्वान प्रतिभाशाली थे और व्यवहार का जो क्षेत्र था उसमें दूसरे विद्वान या दूसरे लोगों से जब कभी किसी बात को लेकर कुछ तनाव हो जाता तो मैं दोनों के पक्षों को समझाता भाई आप ऐसे मत करो तनाव मत करो उनको भी समझा दिया इनको भी समझा दिया और फिर भी उसका तनाव वो छोड़ नहीं रहा है तो मैंने कहा आपने है जी अंग पढ़े हैं उपांग भी पढ़े हैं इतना सब कुछ पढ़ा है पर आपको योग दर्शन का जो भाष्यकार ने भाष्य किया उसकी एक पंक्ति समझ में नहीं आई आपको मैंने उसे ये कहा सर्वथा सर्वथा सर्व प्राणी नाम अनभिद्रोह सर्वदा सर्वथा सर्व प्राणी नाम सारे प्राणियों के प्रति बैर बाग का छोड़ देना और प्रेम से रहना मैंने कहा ये पंक्ति आपको नहीं आई समझ अंग पांग आ गए होंगे मैं तो सीधा बोलता हूँ ना व्यक्ति के सामने आपको भी सीधा बोलता हुआ कड़वा तो लगता होगा कुछ या नहीं लगता है या अभ्यास हो गया सुनते सुनते अभ्यास हो जाता है इनका अभ्यास करवा दिया गया है कुछ इसलिए इनको कम कड़वा लगता है कड़वा दूसरे दृष्टि से लगता है हम्म। जब किसी का नाम लेके दोस्त बताया जाए तब कड़वा अधिक लगता होगा या नहीं सामूहिक रूप में दोष बताया जाए इतना कड़वा नहीं लगता या नहीं होता है इस रवि जी ने क्या किया उनका नाम लेके देखो कड़वा लगता है वो नागपति काटते हैं काट के बोलने के लिए बीज निकाल देते हैं तो एक व्यक्ति ने सम्मति दी मुझे तो ये पता था शायद इनमें कोई मसाला वसाला नहीं डालते होंगे धो तो करके और बीज निकाल के खा लेना चाहिए छिलके सहित फिर ये सम्मति आई कि छिलके में हो सकता मसाला डालते हूँ तो रवि जी से कहा गया रवि जी इसका छिलका उतार दो ये तो रवि जी ने क्या किया छलका तो उतार दिया बीज जो के तो छोड़ दिए क्यों हमने कहा ये उदाहरण है लक्कड़ बुद्धि का जितना बताया उतना कर लिया दूसरे पर ध्यान ही नहीं लक्कड़ में जितना छिद्र करो उतना ही रहेगा वो ना घटता ना बढ़ता क्यों जी अब रवि जी कैसा लगता है आपको है दो भावनाएं उत्पन्न होती है यहाँ अपने दोषों को सुन के प्रसन्नता आनंद की लहर और पूछना फिर पूछो बताओ और बताओ और बताओ मैं सारे ये योग की ओर ले जाती है भावना और न सुनना चाहना क्यों कहा किसी ने क्यों सुनाया मेरे ऊपर क्यों आरोप लगाया ये भावना व्यक्ति को योग के विरुद्ध ले जाएगी दोनों धाराएं व्यक्ति के सामने और धारा चलेंगी आप कहीं भी जाइए कहीं रहिए आरोप लगाने वाले रहेंगे ऐसा कोई संसार का कोना नहीं है जहां आरोप लगाने वाले ना हो या है कोई बताओ हमारी कथा क्या है ऋषियों की भी कथा क्या है परमात्मा के ऊपर आरोप लगाने वाले संसार में हजारों करोड़ों रहते हैं मनुष्य की तो क्या कथा है आरोप लगाने से ये व्यक्ति दुखी होता है तो ये ईश्वर के गुणकरण स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं है जब ईश्वर पर आरोप लगते हैं वो दुखी नहीं होता तो हम भी उसके स्वभाव वाले बने हम भी दुखी ना हो तब तो ठीक है योगा वैसी देखता है ईश्वर का स्वभाव कैसा है दयालु है न्यायकारी है सहो वशी सहो मई देही सहनशील है तो मेरा भी तो ऐसा होना चाहिए इसका ध्यान नहीं रखता जब ईश्वर के गुण स्वभाव का ध्यान नहीं तो योगी कैसे बन जाएगा आपको सुनाया था बोलते समय कैसे कैसे व्यक्ति ध्यान रखे वो हंसता है या हंसाता है ऐसी प्रक्रिया होती है कहीं व्यंग्यात्मक भाषा बोलता है कभी